काल निमित्त कारणों पर विचार करना पड़ेगा ये सृष्टि का निमित्त कारण कौन है कहते भोक्ता ही निमित्त कारण है भोक्ता इत च भोक्तृविदो भोक्ता ही वो आत्मा न करता आत्मा जो है भोक्ता ही है वो कुछ करता नहीं सृष्टि आदि का ऐसे सांख्य दर्शन वाले मानते हैं तो उनका वह मत भी ठीक नहीं यदि भोक्तृत्व यदि आत्मा में अपने माना और भोक्तृत्व कारण से आत्मा विकार होता है कि नहीं होता है बताओ सुख दुख का भोग पाया आत्मा ने उस सुख दुख का भोग के पाने पर क्या उस आत्मा में कोई विकार होता है हर्ष विषाद आदि यदि नहीं होता है तो यह कहना पड़ेगा फिर आत्मा में वास्तविक भोक्तृत्व तो नहीं है फिर तो वेदांत हो जाएगा यदि विकार हो जाता है तो फिर आत्मा का स्वरूप विकृत हो गया वह नित्य रूप एक नहीं हो सकता यदि आत्मा का विकार हो जाए दूध दही जैसा हो जाता है ऐसा आत्मा ही सुख दुख में विकृत हो गया फिर तो आत्मा के नित्य स्वरूप खत्म हो जाता है इसलिए कहते हैं कि भोक्ता है जब भोक्तृ मत भी ठीक नहीं अनित्य दोष की प्रसत्य होगी अरे स्वभाव है विकृत होते हुए वो अपने ऐसे ही ऐसे वैसे रहेगा चाहे जितना विकार हो जाए दृष्टान है कस्तूरी है जैसा कस्तूरी जितना भी सुगंध देते रहता है फिर भी अपने वैसे के वैसे रहता है ना निर्विकार है वो तो घटता तो है नहीं न बढ़ता है न घटता है वैसे की वैसी रहेगी कस्तूरी असली कस्तूरी है तो सारा जीवन रख लो वैसे के वैसे सुगंध उसकी कभी घटती नहीं न वस्तु बढ़ता है ना घटता तद आत्मा भी लगातार जो है भोग के कारण से विकार को प्राप्त सुख दुख रूप है ना उसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी नहीं हो सकता स्वभाव बाद ले गए तब भी नहीं हो सकता यदि स्वभाव है उसका सुख रूप है या दुख रूप बताओ ऐसे कस्तूरी का एक ही सब है सुगंध और दुर्गंध दोनों देगा क्या हम्म? दोनों तो देगा ना या तो सुगंध देगा तो नहीं देगा दूसरा तो देगा नहीं लेकिन यहाँ तो कभी सुख सभी दुख इसका हो मतलब गया या तो सुख स्वभाव वाला मानना पड़ेगा दुख स्वभाव वाला मानो सुख स्वभाव मारे तो सदा सुखी होना चाहिए दुख तो होना नहीं चाहिए दूसरा में सदा दुख ही होना चाहिए सुख नहीं होना चाहिए लेकिन यार दोनों अनुभव में आ रहा है इसका मतलब आदर्श तुम दृष्टान समझाने की चेष्टा कर रहे हो उसके आधार पर व्यवस्था नहीं दे सकते क्योंकि आपका में हम दोनों विपरीत परस्पर विरोधी सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं इसलिए स्वभाव के आधार पर आप व्यवस्था भी दे नहीं सकते इसलिए भोज्यमित तब तो तीसरे ने कहा ऐसा करो ये सब धर्म जो पड़ रहे खाने पीने की जो कुछ भी है जिंदगी इसलिए लड्डू पेड़ा नहीं है यही सब कुछ चावल दाल सब्जी रोटी लड्डू पेड़ा रसगुल्ला यही वास्तव में पारमार्थिक तत्व है इसके बिना जिंदगी नहीं आत्मा नहीं परमात्मा ने कुछ नहीं सब बेकार है बढ़िया तो बात कह रहे नहीं ये सब के अनुकूल बात है भंडारा नहीं तो महात्मा क्या है आजकल लोग ऐसे कहते भंडारा नहीं कहते तो महात्मा क्या है भंडारा खाना ही महात्मा का परम लक्ष्य है तो इसलिए बड़ा आश्चर्य होता है ना एक कहते वो भी है अन्न रस बारानी की जो है जिसमें चतुर है उनका क्या है शुभकार कहते इन लोगों को इनको कहा जाता है शुभकारों का मत है उनका क्या है खाना पीना जो भोजन पानी है भोज्य है यही वास्तविक पारमार्थ तत्व है इसी निमित्त कारण से सारा संसार चल रहा है संसार टिका इसी संसार बना है ये नहीं तो संसार नहीं परमात्मा नहीं आत्मा नहीं कुछ नहीं सबकी छुट्टी तो सिद्धांत कहते नहीं भाई इनमें भी बताओ आप रसगुल्ला को आत्मा मानोगे <laughs> किसको मान किसी एक ही न होगा लड्डू भी आत्मा रसगुल्ला भी आत्मा दोनों के साथ पा सकता है तो एक ही तो पारमार्थिक तत्व होगा या रोटी परमार्थ होगा या दाल होगा या सब्जी होगा या चटनी होगा या पापड़ है कौन है पारमार्थिक तत्व इनमें से भी और कोई खट्टा कोई मीठा कोई कोई कैसा कोई कैसा इनमें से तो परस्पर विरुद्ध है भोज्य पदार्थों में और सभी को एक ही तरह का भोज्य पदार्थ पसंद भी नहीं ये भी आश्चर्य की बात है सबका अलग अलग टेस्ट है यहाँ जैसा भोजन पाते हैं उत्तर भारत के दक्षिण भारत में चले जाओ इनको तो मन ही नहीं लगेगा वहां पर दो दिन भी नहीं खा पाएंगे मर जाएंगे वहां पर यहाँ तो परेशान हो जाते जा जा वहीं जा टिक्कर मारे जा रही क्या है ये है तंदूरी तंदूर रोटी है, या नहीं महाराष्ट्र महाराष्ट्र के लोग बिना मूंगफली कोई सब्जी बना क्या बना है इधर दाल है सब्जी क्या है ये है तो करके दे दिया यो ही नहीं बड़ा खराब लगता है और क्या मजबूरी में खा रहे आश्रम में बात लगती यही तपस्या कर रहे हैं ये तो मानना पड़ेगा नहीं यही तपस्या और है क्या वांछित फल भोजन तो मिल नहीं रहा और फिर भी लगे हैं रट रहे हैं बढ़ रहे हैं नहीं लगे हुए हैं यही तपस्या कर रहे हैं और कुछ तो कमरे में बना लेते हैं इसीलिए क्या करें <laughs> बीच बीच में बना लेंगे संतुष्टि होती रहेगी इंद्रियों को संतुष्ट किया जाएगा तो समस्या तो है ही है सबकी अलग अलग रुचि है सबका अलग अलग विविधा है विदेशों में जाओ तो वहां की भोजन देख के आपको परेशान हो जाओगे गंध ही अलग रहेगा तो गंध से आपको उल्टी आने लगी खाना क्या खाओगे आप और गंध ही ऐसा बनाते पता नहीं क्या बनता है उनको क्यों सब्जी उबाल के दे दो उबाल के देने पर भी आपसे नहीं खाया जाए खाने क्या वहां की मिट्टी में ऐसा है बाकी की सब्जियों में ही कई सभी लक्षण गंध है वो खा नहीं सकते आप उनको फरारी बनना पड़ता है जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं मरा कर देता हूँ मैं हमको जो है फल दे दो दूध दे दो पपीता दो भी फल में भी बाकी फल खाया नहीं जा सकता बाकी फल भी विचित्र है वहाँ के वहाँ के फल में एक तो सेव खा सकते हैं और एक संतरा और तीसरा जो पपीता कोई चौथा फल मुझे वहाँ नहीं दिखाई दिया जो खा सके एक दो तो जगह गए तो अमरूद मिल गया हमने ये खाने लायक मिला इतने तो इतने बड़ी बड़ी अमरूद है ये मैं सोचे क्या देखा तो अमरूद है वही सब इंजेक्शन दे करके यूरिया का अमरूद है वो इतना मोटा मोटा देखने में लेकिन दिमाग में से मोटा हो जाए <laughs> फायदा कुछ नहीं उसका बेकार चीज है चलो पेट भरना तो क्या खाए वो भी खाया दो अमरूद खा ले पेट भर गया तो बड़े बड़े चल सबकी अपनी अपनी रुचि है इसलिए तत्व निर्णय कैसे होगा कौन सा बोझ तत्व ऐसा है जो वास्तविक पारमार्थिक तत्व जिस संसार को हम मानेंगे अत्यंत विरुद्ध परस्पर होने के नाते पर वही करे जब मधुरादि रस व्यंजन व्यंजनादय तत्तई तदैव अन्यथात्व दर्शनाद एक रूप्य असंभवात इत्याभोच्य तद्विदो इनके एक रूपये का बिल्कुल ही संभव नहीं है अतः एक तत्व के संसार सृष्टि की उत्पत्ति आप इस भोज्य पक्ष का भी नहीं कर सकते शुभ कार लोग सूक्ष्म सूक्ष्म विदो स्थूल तद्विद मूर्त मूर्त विदो व मूर्त तद्विद आत्मा को कह कहता है परमाणु रूप में छोटा सा है उसे सारा सृष्टि बन गया है आत्मा और निमित्त कारण है वह सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म लोग पर लेकिन उनकी समस्या ये होगा ये अनुपरिमाण वाला है मारे आत्मा को मानने वाले लोग बहुत लोग हैं परमाणु जैसा मानवाचार्य वगैरह क्या है ये वादी लोग हैं मैं है कि भाई देखो कहीं जैसा आप चंदन यहाँ लगा दो किसी भी जगह लगा दो क्या पूरा शरीर में क्या है फैल जाएगा उसके ठंडक का असर होता ही नहीं होता है उसी प्रकार आत्मा कहीं एक जगह रहेगा तो पूरा शरीर का ज्ञान कर लेगा कहीं भी रहेगा एक जगह बैठे बैठे कर लेगा या घूम मिलेगा यानी घूम करके जान लेगा आत्मा शरीर के भीतर तो उसका ठंडा कर दिया नहीं नहीं नहीं हो सकता क्यों युगपत जो अशेष शरीर का जो बोध हो रहा है वो कैसा होगा पूरे शरीर में ठंड लगा हुआ है मलेरिया बुखार तो अनुभव सिद्ध है सभी को नहीं उसे पूरा शरीर कंपता है ठंड पूरे शरीर में लगता है दो दो रजाए उड़ाने पड़ जाते हैं तो उस समय पूरा शरीर का एक साथ बाहर हो रहा है कि हो रहा है यदि अनुपरिमाण वाला है तो कहाँ का दौड़ के जानेगा इस चीज को युगवत अनुभूति नहीं हो सकेगी इसने परमाणु परिमाण वाला आत्मवाद का खंडन कर दिया कि इससे नहीं हो सकता सृष्टि है कहीं स्थूल देह को ही मान लो पूरा शरीर आत्मा है चार वक्त खड़ा हो गया स्थूल ही तिचत अद्विदा चारवा कहते हैं मेरा जो शरीर है लंबा चौड़ा जितना लंबा चौड़ा है बस यही हमारा आत्मा है कभी ये भी नहीं हो सकता कि मृत्यु और सुश्रुति में अंदर गया फिर मृत्यु वाला शरीर शरीर तो है ना सुषुप्ति वाला शरीर भी शरीर है नहीं सुशुक्ति वाले शरीर में आत्मा को मान रहे हो और मृत्यु वाले शरीर को आत्मा नहीं मान रहे हो क्यों शरीर तो सामान्य शरीर तो ये भी शरीर तो भी है लेकिन ये शरीर आत्मा है वो शरीर आत्मा नहीं है इसका मतलब मानना पड़ेगा शरीर से बिना आत्मा है शरीर आत्मा नहीं है नहीं तो मृत शरीर को भी आत्मा मानो क्यों भूख रहे हो उसको भी रोड पेटा खिलाने कोशिश करो वो क्यों नहीं खाता पीता घूमता करता है वो शरीर तो भी है वही आत्मा है उसको करना चाहिए व्यवहार लेकिन नहीं करता व्यविचार मृत शरीर में चैतन्यता तत्व का व्यविचार हो जाने के कारण उस स्थूल शरीर को आत्मा नहीं माना जा सकता मूर्त इच्छित मूर्त विदो आगविक लोग है जो त्रिशूलधारी शंकर भगवान को ही ईश्वर मानते वही सृष्टि का करता है और शिवागम के लोगों ने ऐसे कहा तो वैष्णवागम खड़े हो गए नहीं जी नहीं नहीं यह जो सुजन चक्रधारी है हमारे विष्णु भगवान शंख चक्र गदा को पकड़े हुए जो इन्होंने ही सृष्टि बनाया तो शैवागम वाले शिव को मानते हैं वैष्णवागम वाले विष्णु को मानते हैं और शांत आगम वाले बेचारे दोनों बच्चे हैं हमारी जगन माता की हमारी जगन माता की जय जयकार है और जगन माता के दोनों बच्चे हैं शिव जी और विष्णु ये क्या करेंगे बेचारे माँ की शक्ति के बिना तो माँ से सब पैदा होगा शाक्त आगम ग्रंथ है तीनों प्रकार के आगम ग्रंथ बनते हैं शिवागम वैष्णव आगम और शाक्तागम इन आगमिक इनको हम कहते हैं आगमिक लोग ये आगमिक लोग मूर्त शरीर जो ईश्वर का है उसी से सृष्टि उत्पन्न हुई मानते हैं उनका भी खंडन करते मूर्त मूर्त विदो और भी भ्रांति मानते हैं क्योंकि उनका वो जो शरीर को मैं पूछूंगा क्या वो पांच भौतिक पांच भौतिक है वो जो ईश्वर का शरीर है अपांच भौतिक है क्या यदि अपांच भौतिक है कौन कौन सी तब से बना उसका शरीर और ईश्वर ने पंचभूतों को उत्पन्न किया ये भी आपके लिखा हुआ जिसको पैदा कर रहा है वही उसका शरीर कैसे हो सकता है भूतों को खुद उत्पन्न कर रहा है इसका मतलब वह भूतमय शरीर वाला नहीं जाता है बाद में भूतमय शरीर वाला हो गया इसलिए पहले उसके अपांच भौतिक शरीर मानना पड़ेगा तो उस अपांच भौतिक शरीर का स्वरूप का कथन नहीं कर सकते इसलिए शरीर मूर्त वस्तु दृष्टि का कारण ये नहीं कर सकते क्योंकि आप ही के वैष्णव और शैवादी आगमों में ही आया है कि वह ईश्वर से निर्गुण निराकार था उसका कोई शरीर नहीं था बाद में उसने भूतों को उत्पन्न किया बंद क्रम आप पढ़ी रहे भागवत वगैरह में आता ही है क्रम से सब उत्पन्न हुआ है उसके बाद जब भौतिक सृष्टि उत्पन्न की तो उसमें प्रवेश किया विराट रूप से आपको उसका अभिमान किया स्थूल शरीर तो बहुत बाद में मिला उस ईश्वर को इसे शरीर ईश्वर से सृष्टि उत्पन्न हुए बात कहना गलत है ये हो नहीं सकता और लीला विग्रह की कल्पना करोगे वो भी हो सकता विग्रह अभाव लीलाभावाच क्योंकि विग्रह ना हो पर लीला ही नहीं रह जाएगी लेकिन अनेक लोग ऐसे सृष्टि को अनादि और नित्य मान रहे हैं जो उनके उसमें समस्या खड़ी हो जाएगी यदि लीला विग्रह के अधीन सृष्टि को मानोगे तो लीला को भी नित्य मानना पड़ जाएगा सृष्टि नीतिवादियों के लिए इसलिए कभी व्यवस्था नहीं बन सकती है किस प्रकार का मूर्त वस्तु से उत्पन्न किया तो कभी छोड़ो फिर अमूर्त को मान लो अमूर्ति था पहले अमूर्त सर्वागार शून्य निस्वभाव वाला परमार्थ तत्व तो है वाली खड़ा हो गया वो कहता है कि शून्य से ज्यादा सृष्टि हुआ बांध लो फिर झंझट खत्म यह शंका तो नहीं होगी किसे पैदा क्या अरे शून्य से आ गया तो शून्य से कैसे आ जाएगा तगड़े तो व्याघात दोष है क्या एक तरह से शून्य क्या है उनसे पूछो शून्य पारमार्थिक या पारमार्थिक तत्व है जिस शून्य से सारा जगत पैदा हुआ वह शून्य यथार्थ या यथार्थ तात्विक तात्विक है परमार्थ या व्यावहारिक कल्पित है यदि पारमार्थिक कहोगे तो शून्य नहीं हो सकता व्याघात दोष हो जाएगा है परमार्थ भी है और शून्य भी है दोनों पर विरुद्ध बात नहीं हो सकता है कि जो परमार्थ है वो शून्य नहीं हो सकता कि जो तत्व है वो निस्तत्व भी हो तो तत्व भी कहो उसको निस्तत्व भी है वो तत्व भी है ऐसा कैसे होगा जो तत्व होगा हाँ, वह कभी निस्तत्व स्वरूप वाला नहीं हो सकता जैसे कोई कहे मैं हूं भी और नहीं भी हूं मैं जिंदा भी हूं और मरा भी हूं ऐसे कैसे होगा भाई एक तो पारमार्थिक होगा उसमें आप हाँ, जिंदगी पारमार्थिक होगा मरा हो तो आपकी कल्पना होगा कि धन दौलत नहीं रहेगी इतना मरे के बराबर हो दृष्टि में बदल आगे ना वास्तविक में दोनों वास्तविक स्वरूप नहीं हो सकते इसीलिए शून्यतम पारमार्थिकम दोनों परस्पर वजतो आघात वाला होने से वृद्ध होने के नाते दोनों एक में नहीं आ सकता यदि शून्य है तो पारमार्थिक नहीं होगा फिर कल्पित करना पड़ेगा कल्पित और कल्पना का स्थान दूसरा होगा वो पारमार्थिक होगा शून्य से सृष्टि की व्यवस्था नहीं बनेगी अतएव वज्रव्या का दोष के तरह ये भी खंडन हो जाता है काल इति काल विदा दिशा इति तद्विद वाद इति वाद विदो भुवनानी तद्विद ज्योतिषी आए ज्योतिष लोग कहते हैं महाराज काल ही पारमार्थिक तत्व है क्योंकि जितनी आगमी के पौराणिक के वैदिक के सब अंत में क्या होते काल रूपी क्षोभक है उस स्त्रोणात्मक प्रकृति में माया ने क्षोभ पैदा किया वह क्षोभक के बिना क्षोभ पैदा नहीं हो सकता तो ईश्वर ही काल रूप बन गया ऐसे ज्यादातर यही बोलते हैं भागवत में तो काल रूप ईश्वर ने क्या किया माया में क्षोभ पैदा कर दिया वो साम्य अवस्था जो थी माया में सत्र उसे विषमता आ गई मुझे पूछेंगे काल रूप ईश्वर कौन है और कहा से टपका और ब्रह्म से भिन्न किया भिन्न कल्पित की पारमार्थिक है ये पारमार्थिक सब सापेक्ष क्यों हुआ पहले काल को पारमार्थिक मान के चले गए वो भी जा सकता कि काल ऐक्य रूप वाला नहीं है काल की एक रूपता नहीं है कि जिसको वर्तमान करके अनुभव कर रहे हैं ये क्या हो जाता है भूत जिसको आप भविष्य मार्ग चल रहे हो वो एक न एक दिन वर्तमान हो जाता है इसके स्वरूप ही निश्चय नहीं हो पाए इसीलिए ये न भूत है न वर्तमान है न भविष्य तो कुछ भी नहीं है ये बकवास है ऐसा अच्छा नहीं ये मानना पड़े जिसके स्वरूप का कोई निश्चय न हो उस तत्व को तत्व कैसे कहोगे आप उसके पारमार्थिक स्वरूप क्या है एक पारमार्थिक स्वरूप बता दीजिए काल का अमुक स्वरूप है नहीं बता सकते और यह सो पहले व्यवहार करते हमेशा जो भी व्यवहार हो रहा क्या है स्वपरिग और काल का सूर्य स्पंदन आदि को लेकर के जो आप जो है क्षण ऐसा आरम्भ करके कला काष्ठा लव इत्यादि से आरम्भ करते करते मुहूर्त वगैरह लेकर फिर अहोरात्र हो गया फिर पक्ष हुआ सप्ताह हुआ पक्ष हुआ मास हुआ ऋतु हुआ अयन हुआ सम्मत हुआ इस प्रकार से गिने जा रहे हो तो भाई सापेक्ष गिन रहे हो ना सब चीजें इसे इनका कारण है कि देखो काल की एक रूप पता नहीं है मुहूर्त आदि व्यवहार होने से और मानोगे फिर मोहताज भी व्यवहार नहीं होगा इसलिए कहते हैं नानात्व तो पक्ष में अस्वतंत्रता हो जाएगी और एकत्र पक्ष व्यवहार नहीं बन सकता यदि कहोगे अन्य विषय तो हम प्रती कर लेंगे व्यवहार को तब भी नहीं हो सकता क्योंकि वे काल का अपने पारमार्थ स्वरूप निरुपाधित उन्हें उपाधियों को छोड़कर उस काल के पारमार्थ स्वरूप को कथन कीजिए आप लक्षण बनाइए जैसे पारमार्थिक आत्मा ब्रह्म का रक्षण करते हो सच्चिदानंद ब्रह्म है विज्ञानम ब्रह्म कहते विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इस काल का बताओ क्या करोगे फिर पारमार्थिक स्वरूप का शब्दों से लक्षित कीजिए कुछ यदि उसका अपना कोई पारमार्थिक स्वरूप निजी है तो लक्षित करनी चाहिए नहीं कर पा रहे उसका तो कोई पारमार्थिक स्वरूप नहीं है तो क्रिया का धर्मत्व नहीं सदा प्रतीति होने के कारण से क्रियाधीन प्रतीति का विषय होता काल है तार्श काल को हम नित्य और पारमार्थिक नहीं मान सकते तद्विद स्वरोदय वेत्ता लोग है स्वरोदय के वेत्ता लोग कहते हैं दिशाएं पारमार्थिक वो स्वर से निर्णय बता देंगे उसे सारा तय करके बता देंगे क्या है क्या नहीं कहानी दिशा ही दिशाएं पारमार्थिक है तदपि भ्रांति मात्र ले लो भी भ्रांति मात्र ही है तद विधा भी पराजय दर्शना क्योंकि तद वेताओं में पराजय तो ही देखने को मिलता है तद विधा अपनी पराजय दर्शना पांच मिनट पढ़ कर दे दीक्षा पुराने दुष्टा विजयातंगता पराजय दर्शना दिशाओं के वेदता स्वरवेदता लोग हैं वो शुक्रों को देखते अरे आज जो है मौसम खुला है और अमुक नक्षत्र ये है वो है सो तो सारा ठीक ठाक है मैं चल रहा हूँ तो हर किसे प्रणाम किया बिल्ली नहीं काटी रास्ता अरे मेरा विजय होगा भाग गया तो हार के बहुत पहुंच गया फैल होकर आ गया क्या करें सारे उसकी जो है शकुन आपके शकुन बेकार गए ना कल्पना और दूसरे जो कोविड में कौवा काट के आ रहे फिर भी चलो परेशान दे रहा है मैं पास हो रहा है अब क्या करोगे अब कौवा काटना खराब मानोगे कि अच्छा मानोगे वो तो ये मैं तो पास हो गया इसलिए मैं तो अच्छा मानता हूँ और दूसरे लोग शास्त्र में कहेंगे भाई तो गलत है कौवा तो सर पे छुना नहीं चाहिए और घर से निकला हुआ ऐसा तो तो कहोगे तो भाई उल्लू का दर्शन करना है नहीं शास्त्र कहता है नहीं उल्लू का दर्शन करना खाना आ गया और क्या मारोगे कई बार तो हो भी जाता है बिल्ली काटा के और एक्सीडेंट हो गया क्या करोगे कई बार तो हो भी जाते हैं और कई बार कुछ नहीं ये रास्ता काट रहे जयराम जी बोल के आगे चल रहे अरे हनुमान जी चिल्ला देते हैं लोग हनुमान जी को याद करके और रात तक क्लियर बिल्ली काटने का दोष अपने आप खत्म तो इसलिए उसका जो शाम को लेकर के जो विज्ञान करके दिखे शकुन अपशकुन हम जो सोच करके जो करते हैं उसी को पारमार्थिक है उसी के यहाँ पर सृष्टि उत्पन्न हुई ये कहना उचित नहीं है और कहा धातुवाद मंत्रवाद आदि वाद वादा वाद विदो धातुवाद है मंत्रवाद है इत्यादि वादों को यही वास्तु वस्तुभूत तत्व है ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि वो भी ठीक नहीं क्योंकि ताम्राज्य स्वभाव में हम देख रहे ऐसा फर्क पड़ जाता है योगों को लेकर अंतर पड़ जाता है वही तांबा जो आपके लिए जहर बन सकता है वही तांबा दूसरे रूप में आपके लिए अमृत भी बन जाए करने के ऊपर इसलिए कहते हैं ताम्रादि स्वभाव स्थिति कंकाल स्वभाव असंभव यदि ताम्रादि उसका अपना निजी स्वभाव है तो तांबे को जो सोना बना तो कैसे बना तांबे को लोग जो सोना बना लेते हैं वो कैसे बना पाएंगे यदि वस्तु को उसका अपना स्वभाव है धातु का अपना स्वभाव है तो परिवर्तन नहीं होना चाहिए ना स्वभाव में अंतर पड़ेगा क्या लेकिन कैसे हो गया लोहा को सोना बना दिया लोगों ने है पारसमनी से है? नहीं नहीं नहीं असलियत में हो जाता है तरीका है बनाने का विधि है और नहीं जानते सभी बात अलग चीज है और ऐसे बनाना भी नुकसानदायक भी है तो कई चीजें हैं डाल करके बनाते हैं इससे कोई दिक्कत नहीं है एक बार आ गया जो ऐसा बना के उस पैसे से खाए को कोड हो जाता है जीवन भी बर्बाद हो जाता है इसे लोग छोड़ दिया इन चीजों को वास्तव में होता है लालच में कर होते हैं और फिर बाद में नुकसान पहुंचता है और ऐसे भी हम आत्मा मिलेगा कि उसने केवल आपका रुपया ले लेंगे एक रुपया यहाँ सिक्का होता ना उसी सिक्का को डाल देगा उसमें किसमें उस चलम में पहले कुछ डाल देता है एक रुपये सिक्का रख दिया और फिर उसमें माल भरा और फिर फोन खाचा उसने सबको दे देता है और फोम भी है उसके बाद झाड़ देता है तो सोने का सिक्का ले जाए किसी दुकान में आप तो कहा जाए कि एक रुपये लोहे का सिक्का है किसे बना दिया सोना चल फोन को मारा उसने वो कुछ ऐसी जड़ी उसके पास रहती थी उसके लिए क्या कहना ना देना और उसको नॉट डन पोंगा वो रिएक्शन जो होता था जो इतना गर्मी और बिल्कुल सेट होता था उसके अंदर फिट मिल गया उसको बन गया सोना ले आओ ले जाओ उसको ले जी से पैसे ले आओ माल्टा ले आओ जब भंडारा छको वो था मुड़ में बात कभी वो उससे पैसा नहीं कमाया बनाना और महात्मा को खिलाना कोई महात्मा करे महाराज छोरा मिठाई उठाई कुछ हो जाए अच्छा ठीक है बैठो वही चालू कर दिया इसने फूंग भाग दी अरे जा दो क्विंटल मिठाई क्या दिक्कत चला महात्मा भंडारा चल रहा है चक्का अच्छा ऐसे ऐसे महात्मा ने तो है तरीका अनेक इसलिए धातुवाद भी बनता नहीं तो मंत्रवाद ले लो कहते वो भी ठीक नहीं है मंत्रवाद काला दृष्टो ने जीवती है काला दृष्ट स्वयं जीवती मंत्र किसको बचा सकता है जिसकी मौत आ गई थी जितना मृत्युंजय जाप करते रहो तो जाएगा यहाँ से तेरा मंत्र संत्र सब रह जाएंगे उसको तो जाना ही पड़ेगा और कोई मंत्र जाप मेरा एक समय नहीं आया तो मारने के चलते तो मरेगा वो जिंदा रह जाएगा मंत्र का सात्य हुआ मंत्र कोई सत्य नहीं होगा इस तरह से ये सब अपारवादिक तत्व है इन चीजों में सृष्टि का मान्यता नहीं मनना निचित तत्विदा भुवन कोशी की कहते भुवन जो चतुर्दश है यही वास्तविक है इसलिए सारी सृष्टि संचरण हो रहा है कदे ठीक नहीं तेषा अदृष्ट अरे चौदह बंद देखा ही नहीं वर्णन है ठीक है एक बात दूसरा अरे आप कैसे कहे तो हमने देखा है वो ठेका नहीं लगा वो नहीं देखता अरे मैंने देखा है आप क्या मैं तो लोग वेदन करता हूँ जैसे योगी नाथ का नहीं सुनाया था तो सारे लोग वेदन करके जाता हूँ आता हूँ मैं सबसे बात करके अरे ब्रह्म से आज बात करके आया ऐसा बहुत आता हूँ ऐसे भगत ही ऐसे होते ना महाराज आज आपकी क्या अनुभूति अरे क्या कहराज आज तो कैलाश पर्वत में पहुंच गया था कोई संकल्प नहीं था ऐसे ही झटी थी मन में आया कि शिव जी का दर्शन किया जाए बहुत दिन हो गया है उनसे मिला नहीं तो झट दिया लोग बेदर होकर कैलाश लोग पहुंच गया महाराज शिव जी वहां कैसे थे क्या नृत्य कर रहे बड़ा आनंद क्या वर्णन करता तो सुने लायक रहता था अरे कर रहा योगी राज बढ़िया वो हमको एक बदाम का पैकेट देते थे महाराज बदाम ले जाओ शांत रहना मैंने कहा अच्छा घूस देते हो हाँ? अच्छा प्रकट न कर घुस देते हो मैं चिंता और तेरी बदाम हमको पछेगी नहीं ध्यान सेठों तो का बदाम दो नंबर एक तरीके से कमा रहा है बदाम को वो थोड़े हम खाएंगे ले लो तू ही रख ले हम नहीं बोले किसी से मैंने ऐसे भी लोग है ना तो लोग भेदन करने वाले झूठे सच्चे जो भी है तो वो कहेंगे है चौदह लोग हमने देख रखा है हम जाके आए हुए हैं सब जगह सबसे बात कर रहे हैं तब क्या करोगे तो ऐसे आदमी को जवाब देने के लिए कहा तर्क देना पड़ता है तब हमने वर्णन किया तेषा नचतेभ्य तद दर्शन तेषा विधो विप्रतिपदित्या कारण है कि दूसरी बात यह भी है उन बहुन नेताओं से पूछो परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध बात भी कह देते हैं यदि उसका एक स्वरूप है पारमार्थिक स्वरूप है चौदह भवन है और उनका एक रूप है तो जो भी देखे उसको वही तो वर्णन करेगा लेकिन परस्पर विरुद्ध वर्णन हो रहा है इसका मतलब है उसका एक पारमार्थिक स्वरूप उसका नहीं कहते ठीक है मन इति मनोविद बुद्धि रीति तद्विद चित्त मिति चित्तविद धर्म धर्म तद्विद आप पुनः लोकायतिक में ही भेद आया शरीर को आत्मा मानने वाले से उठ करके भी मन को आत्मा मानने वाले माने आए मन ही आत्मा है इससे सारी सृष्टि हुई है ऐसे मनोज्ञ पुरुष लोग लोकायतिक में जो मनोज्ञ होता है लोकायतिक है उन लोगों का कहना है उनसे भी हम पूछते हैं भाई बताओ ये मन सृष्टि आदि को निर्माण कर स्वतंत्र ही क्या स्वतंत्र है ये स्वतंत्र है अगर मैंने दुख के विषयों को क्यों बनाया इसे अस्वतंत्र मानना पड़ेगा जो अस्वतंत्र तो फिर घटा घट के समान अनात्मा हो जाएगा घटारी के समान वो अनात्मा है जड़ अपारमार्थिक तत्व हो जाएगा अतएव मन को आत्मा मानना उचित नहीं है और बुद्धि तत्विदा विज्ञानवादी बौद्ध आए तो भी अनुदान बुद्धि रेव आत्मा क्षणिक विज्ञान को आत्मा मानते हैं जो बुद्धि तो हर क्षण बदल रहा है वृत्ति प्रवाह चलती रहती है और उसी में यदि आत्मा मानोगे तो परिणाम शारीरिक की बुद्धि को यदि आत्मा मानोगे फिर वह उसका पारमार्थिक शाश्वत नित्य स्वरूप रहा नहीं तो नित्य मोक्ष मोक्ष का स्वरूप क्या मानते हैं सभी नित्य ही चाहते अनित्य स्वरूप मोक्ष नहीं मानना क्षण विज्ञान या आत्मा है उसको मोक्ष है फिर आपने क्षण विज्ञान को मोक्ष पर स्वीकार किया अगर विकारवान को मुक्ति हुई अगर स्वरूप ही मुक्ति का स्वरूप हुआ तो अनित्य रूप में गया तीसरे तरह अनित्य को मोक्ष के रूप में स्वीकार कोई नहीं कर सकता और दूसरी बात सुषुप्त उसका विचार भी होता है क्यों वेद भी वेद्य से अभाव बुद्ध अस्तित्व में बनाती बुद्धि वहां पर समाज के अविद्या है और कुछ नहीं निद्रा निद्रा दोष रूपेण अविद्या सुश्रुति काल में रहती है मन बुद्धि अहंकार चित सब के सब सोए पड़े हुए तो स्थिति में फिर आत्मा रहित तो सृष्टि मानना पड़ेगा सुश्रुति काल में ये भी आपत्ति है नैरात्य सृष्टि स्वीकार करना संभव नहीं है तो कभी चित्तम तभी तब तो बाह्याकार शून्य विज्ञान को ले लिया कल तो क्षण विज्ञान जो था बाह्याकारात्मक शून्य विज्ञान को लिया इसलिए हम कहते विषय न होने पर वो विज्ञान भी नहीं रहा अतः तो आत्मा ही गायब हो गया तो उससे अगला क्षण विज्ञान वाले नहीं, फिर बाह्याकार शून्य विकल्प कहूंगा वो तो भी ठीक नहीं क्यों तदेव अपने तथापि प्राप्त न्याय विशेषाद वहां लेकिन समान मामला है मैं पूछूं उसे कि भाई वो जो है सुषुप्त में रहता है कि नहीं रहता है यही सुषुप्ति में रहता है ठीक आत्मा सुषुप्ति में रहा आकार शून्य विज्ञान रूपी आत्मा सुषुप्ति में रहा उस सुषुप्ति में रहता उस आत्मा का स्वरूप क्या है आनंद रूप है क्या आनंद रूप है आनंद रूप द्रव्य क्यों हुआ न किंचित दवेदिशम वो आपका जो क्षणिक विज्ञान है वो आनंद रूप नहीं था उस समय वो किस लहर को ले चला है मैं अज्ञान रूप वाला हूँ यही चल रहा है इधर अज्ञान विशिष्ट आनंद रूप था ये पारमार्थिक तत्व तो नहीं हो सकता या तो अज्ञान को आपको माया कल्पना कल्पित करना पड़े वास्तविक नहीं आत्मा का स्वरूप में फिर हो फिर वेदांत में आ जाओगे यदि उसको अवास्तविक कहोगे अपारमार्थिक स्वरूप में गिनोगे आत्मा का उस अज्ञान को फिर तो हाथ उसके स्वभाव में नहीं रहा तो फिर वेदांत हो गया आरोपित है इसलिए वो ये नहीं कह सकता कि अज्ञान आरोपित उसको कहना पड़े उसका अपना स्वरूप है वो सुशुद्धि काल में आत्मा का स्वरूप है अज्ञान विशिष्ट आनंद यदि इसके स्वरूप को मैंने अज्ञान को ले लिया तो फिर वो पारमार्थिक तत्व हो नहीं सकता क्यों प्रकार एक तत्व पर स्वरूप तो एक में एक स्थान पर नहीं हो सकते अतः अज्ञान विशिष्टान दुर्भात्मा क्षण विज्ञान सुश्रुति में स्वीकार करना बहुत मत के लिए सम्मत नहीं हो सकता अरे भाई जो कुछ भी संसार में पुण्य पाप के सिवा कुछ नहीं पुण्य पाप पर सारा संसार टिका है सृष्टि जो हुई है पुण्य पाप अधीन होकर चल रही है तथा तेरी भी नहीं हो सकता ये धर्म और अधर्म कोई लक्षण ही नहीं है जो चीज जहाँ धर्म ठीक दूसरा जगह अधर्म हो जाता है अब बताइए एक ऐसा का काम है आप यज्ञ मंडप के अंदर पशु को काट रहे हैं अरे ये यज्ञ हिंसा है ये धर्म है पाप नहीं और उसी से हटकर वहां काट दो अरे पाप कर दिया इसने बकरा काट दिया अरे तुम भी बकरा काटो भी बकरा काटो फर्क क्या पड़ा अरे सौ दस फुट के तो फर्क पड़े अरे उसी गाँव में काट रहा हूँ उस जगह काट रहे दस फुट के धर्म हो गया ये अधर्म हो गया कपोल कलपना तो है फिर इसलिए कहते ये सब व्यवस्था जो है ना धर्माधर्म देश काल आदियों में भी प्रतिपत्ति को प्राप्त कर जाता है वहां भी है ना आपका महाव्रतम योग सूत्र में देश काल आदि निमित्त को लेकर के विभिन्न प्रकार वर्णन जा कर किया वही चीज कहीं धर्म हो रहा है कहीं अधर्म हो रहा है क्या मतलब है ये इसका धर्म का कोई उचित नहीं है अधर्म का भी कोई निश्चित वास्तविक स्वरूप नहीं है सत्य और झूठ की भी कोई परिभाषा नहीं झूठ बोल रहे क्या हम झूठ बोल रहे साबित करो हम झूठ बोले आप साबित नहीं कर सकते क्योंकि जिस काल में जिस प्रसंग में जिसके जिस दृष्टिकोण से कहा जा रहा है इसको समझना कठिन है ना महाभारत दृष्टान समझाया ना एक माता बैठा था ऋषि और कुछ कसाई लोग दौड़े या चोर लोग दौड़ रहे थे उसी ऋषि के सामने से गाय निकल के पीछे की ओर चली गई और फिर वो लोग चोर या कसाई चोर वो आए उनसे पूछा महाराज गाय किस तरफ गई उनको देख के समझ गए ऋषि ये तो काट के खाने वाले वो हत्या हो जाएगी इसे उन्होंने झूठ बोला तो इधर से भागी सामने सामने से भागते भागते उधर चली गई देख लेना झाड़ी में बेचारे उधर चले गए मिलेगा क्या वहां गई थी पीछे कहा जी उधर झूठ तीर बाजार तोड़ने की मौत ही यमराज जी क्या पहुंचे दोनों तो वहां चोरों को भी कहा यमराज जी ने भाई तुम्हारा बहुत पुण्य कार्य हो गया कि तुम गोवध करना चाह रहे तेरे से गोवध नहीं हुआ उसी पुण्यवशात जो तुम यहाँ पर पहुंचे हो अरे महात्मा ने बड़ा अच्छा काम किया झूठ बोल करके तुमसे कि गौ हत्या से तुमको बचाया और गौ के प्राण की रक्षा कर दी उन्होंने महाराज में हमको झूठ बोल के ठग दे तो पाप किए हैं यमराज ने पाप नहीं किया अब तो इतना भयंकर झूठ बोला महात्मा होकर के और फिर भी कहते नहीं ये पाप नहीं पुण्य है अरे झूठ की क्या परिभाषा होगी फिर हम्म? जैसा देखा वैसा कहना सच है जैसा देखो उसका विपरीत कह रहा है झूठ है तो जैसा विपरीत तो कहा है यहाँ पे नहीं वो झूठ नहीं वो सत्य हमारा हाथी को अश्वत्थामो हटा नरोवा कुंजरवा तो बेकूफ बनाने वाली चाल थी नहीं सच बोल रहा है झूठ नहीं है बड़ा कमाल है है ना विचार आदि ऐसा लोग सत्य न झूठ न पुण्य न पाप किसी के लिए स्वर्ग निश्चय नहीं है इसके लिए अनेक अन्य जो कारण है निमित्त फैक्टर्स कहते अंग्रेजी अनेक निमित्त इसके आधार पर तय होगा कि इसने जो व्यवहार किया वो सच्चा है या झूठा है इसका व्यवहार धर्म है किया अधर्म है उसका अपना एक कोई निश्चित स्वरूप देश काल आदि को लेकर के भिन्न भिन्न स्वरूप हो जाता है एक बार स्वरूप बनावन के कारण ऐसा अपारंपरिक स्वरूप धर्म के कारण नहीं हो सकता षड चापरे एक और अनंत चापरे कहते हैं कि भाई ये जो सृष्टि है ये सृष्टि सत्य है पच्चीस तत्वों वाली यह सृष्टि ही सत्य है पहला और यहाँ में थोड़ा अंतर है सांख्य वाले कारण का गुण सत्य है गुण इसी सृष्टि का कारण है त्रिगुण केवल ये की सांख्य में अवान्तर वेद है वो कहते हैं गुणों से बना होना कुछ नहीं पच्चीस तत्व आदि काल से रहता है और अनंत काल तक रहेगा नित्य सृष्टि महदंगार मात्रा ने सत्य प्रकृति कर पंच ज्ञान इंद्र पंचकर्मेन्द्रिय पंच विषया मनश्चेक षोड़श विकारा पुरुषस्तो दृश्य स्वभाव यदि पंचमी संख्या का प्रपंच वस्तु इति संख्या यही यथार्थ पूरे की पूरे पच्चीस यथार्थ है पहले तो तीन तत्व का तीन गुण ही सृष्टि का कारण है अब भी पूरा पच्चीस तत्व ही सृष्टि के प्रति निमित्त कारण बन रहा और वास्तव में सत्य है यह भी उचित नहीं पंचदी पंचविंशति विशेषण से व्यावर्त है जो पंचविंशति विशेषण दिया वो किसका व्यावर्तन करेगा व्यावर्थ व्यर्थ और भी अन्य संख्याओं में व्यावर्तन कर रहा है जो दूसरे मत मतांतर की संख्या है कोई सोलह पर है कोई छब्बीस कर है उसका व्यावर्तन करने के लिए मैं पच्चीस बोल रहा हूँ यदि ऐसा है प्रश्न उठेगा रोज व्यावर्त को आप स्वीकार करोगे क्या व्यावर्ति की सत्ता यदि नहीं है तो उसका व्यावर्तन करने की जरूरत क्या असत को व्यावर्तन करने की जरूरत नहीं है किसी चीज को अतिव्याप्ति हो गया जैसे मान ली नील कमल आपने कहा नील विशेषण क्यों दे रहे हो क्योंकि रक्त की सत्ता मान लेगा यदि रक्त की सत्ता ही ना हो तो नील विशेषण क्या करेगा या नहीं किसी वस्तु को व्यावर्तन करना है तो उस वस्तु की अन्यत्र सत्ता माननी पड़ेगी यदि आप पच्चीस संख्या के षोड़श पदार्थ या षडविंशति पदार्थों का व्यावर्तन करना चाह रहे हैं तो इसको तो षोड़श षडविंश को आपने अन्यत्र स्वीकार कर लिया तो कौन यथार्थ होगा जैसे नील और रगत दोनों यथार्थ अपने अपने स्थान पे तो षोड़श वेदार्थ पंचविश भी यथार्थ हो जाएगा आपका यथार्थ व्यावर्तन के द्वारा विश्व सिद्धांत को सिद्धा नहीं कर सकते वही कह रहे हैं कि भैया क्या व्यावर्तत्व व्यावर्त प्रमिति व्यावर की प्रमिति स्वीकार करनी पड़ेगी अरे नहीं करोगे आप प्रमिति करोगे तभी व्यावर्तन व्यर्थ वही दोष आ जाएगा क्योंकि व्यावर्त सोलह पदार्थ या छब्बीस पदार्थ वह आप यह क्या है आप प्रमा है फिर व्यावर्तन क्यों कर रहे हो यही प्रमा है फिर उनकी सत्ता स्वीकार कर लिया तो पंचविशति यथार्थ है कि सोलह यथार्थ निर्णय नहीं हो सकता और वह प्रमा है फिर उनको व्यावर्तन करना ही व्यर्थ है इसे कोई भी लक्षण चीज आप बनाओगे प्रतिभा वारण करने के लिए कोई शब्द दोगे क्योंकि वो क्या है वो अपरमा है खपुष्प ज्ञान अपरमा है अतः तो उसका व्यावर्तन करने के लिए हमें कोई विशेषण देने की जरूरत नहीं इसी प्रकार सोलह या छब्बीस है संख्याएं अप्रमा है फिर उसको व्यावर्तन के लिए विशेषण क्यों दे रहे हो उभे तस्पाखा जो बांध दिया फिर ये प्रमा है तो भी व्यर्थ है विशेषण की वो भी यथार्थ ये भी यथार्थ है कि आपके मत के अनुसार सृष्टि मानूंगा क्योंकि सोलह लाघव है सोलह संख्या क्या मानूंगा नहीं है कहूंगा सोलह पदार्थों से सारे सृष्टि है ये लाघव के हिसाब से विचार करें इसलिए यदि वो प्रमा है तो उनकी सत्ता मजबूत हो जाएगा आपका कमजोर पड़ेगा और ये कभी प्रमा है तो व्यवहार पंचमी शर्त संख्या देना ही व्यर्थ हो जाए विशेषण व्यर्थता तो दोष हो जाएगा इसलिए वही एक वो भी ठीक नहीं तो दूसरा है षड विंशत्या पर है दिशा पर है पतंजल महर्षि कल ईश्वर रूपी अधिक जोड़ करके छब्बीस तत्व कहा लेकिन ये भी कोई खास फर्क नहीं है सांख्य और योग में तो वही सब दोषी में भी आएगा क्यों एक तो सबसे पहली बात तो पुरुष विशेष आपने कहा अन्य पुरुषों से उस ईश्वर में पुरुष में अंतर सिद्ध करना संभव है क्योंकि ईश्वर प्रतिशा से सिद्ध नहीं अनुमान से सिद्ध करना पड़ेगा अनुमान आदि से सिद्ध वस्तु के गुणों का निर्णय नहीं कर सकते आप ऐसा आप कहना जीव में क्या मिश्र है शुक्ल कृष्ण वगैरह मिश्र है और वो अगर अशुक्ल कृष्ण है अमिश्र है वो शुक्ल देवता हो गया कृष्ण हो गया नीचे योनिया और मिश्र मनुष्य हो गया तो देवगिरी योनिया से परे जो वो ईश्वर है शुक्ल कृष्ण मिश्रण पुण्यमय से शरीर है न पापमय शरीर है न मिश्रित है ऐसे वाले का नाम ईश्वर वो लेते हैं योग सूत्र का लेकिन वह ईश्वर को पुरुष विषय पुरुषांतर का तीर्थ कराना पड़ेगा विभिन्न नहीं कर सकते अच्छा षडविंश संख्या बोलना भी आपके लिए उचित नहीं है और पंचविंश ईश्वर को भी पुरुषांतर्गत ही ले लोगे ऐसा नहीं आएगा लेते जीवात्मा परमात्मा आत्मा नहीं है बद्ध पुरुष और मुक्त ईश्वर भी पुरुष और अन्य मुक्त पुरुष सब पुरुष ही तो है इसलिए पुरुषत्व में पुरुष रूप में सबको एक साथ ग्रहण कर लेते हैं तो पंचविंश संज्ञा वैसे का वैसे रह गया तो पूर्वोक्त दोष फिर आ गया तब कहते ऐसा नहीं फिर तो हम बढ़ाएंगे एक आहू शैवों में जो विभिन्न शैव दर्शन है कोई छत्तीस मानता है कोई तैंतीस मानता है कोई इकतीस मानता है अंतर करते थोड़ा थोड़ा शिव और सदाशिव को जोड़ दिया इकतीस को तैंतीस कर दिया शक्ति जोड़ दिया माया जोड़ दिया सब जोड़ दिया तो छत्तीस कर दिया ये भी अगर तत्व तो अलग नहीं है यदि आप अलग करते हैं फिर समस्या ये होगी और भी संख्या बढ़ सकता है फिर काल का भी भेद उसको भी जोड़ो उसको भी जोड़ देंगे तो और संख्या बढ़ती जाएगी अवान्तर भेदों को लेकर के आप गिनेंगे वो क्या क्या जोड़ देगा राग अविद्या नियति काल कला माया ये सब जोड़ते अधिक और माया और अविद्या को अलग कर दिया काल और नियति को अलग कर दिया तो नियति काल के अंतर्गत है माया के अंतर्गत अविद्या हो जाएगी अवान्तर वेदों को भी लेकर यदि आप संख्याओं को पढ़ाएंगे तो, तो संख्या इकतीस लाख हो जाएंगे दूसरे ने कहा महाराज प्रद्वानंद पर है अनंत पदार्थ तत्व छुट्टी करो कहे वो बिना रहे हो ये अवान्तर वेदों को लेकर के विचार करना ही है फिर तो आनंद हो जाएगा अटपाट पाठ सब एक तत्व जितने भी कार्य सब तत्व इसलिए कहते हैं अनंत पाशु पशु शास्त्र ने कहा था राग अविद्या नियति काल कला माया दिगा तो एक ही एवं एक त्रिशत छह जोड़ो छब्बीस में तो पच्चीस में छह जोड़ा तो इकतीस हो गया तन्ना क्लेश राग विद्यो अवान्तर भेदवत स्मृतादि भिन्न यदि क्लेश रूपा सब है फिर भी अब राग और विद्या को अलग गिराया फिर मैं तो कहूंगा फिर आग अलग अलग गिना दो ना और अवान्तर भेद जो थे अभिनिवेश सब उनको भी अलग गिना दो संख्या तरीका तस् रागो परक्षित और राग से हमको उपलक्षित करोगे फिर हम कभी विद्या को उपलक्षित करोगे माया से क्यों लेकिन आ रहे हो कुछ को किसी से उपलक्षित करोगे और कुछ को तो नहीं करोगे तो क्या प्रमाण तस्या अविद्या उपलक्षित न्यूनता पाता अविद्या मायोश एक और अविद्या और माया भी एक है अवान्तर भेद नियत हुआ भी और इसे अवान्तर भेद को लेकर विचार करोगे नियति में भी क्या है काल का अवान्तर भेद संख्या त्रेकता संख्या का त्रेक करने का व्यर्थता दोष वैसे का वैसे रह जाएगा काल कला सुचा तत्प्रसिद्ध है इधर काल का भी कलादियों में प्रसिद्धि है इधर एक त्रिशक संख्या कहना उचित नहीं है और अवान्तर वेदों को स्वीकार करके गिनना गिनना ही चाहते हो अनंत पदार्थ वेदो न नियत अस्थि अनंत पदार्थ वेद है कोई नियत संख्या नहीं है ऐसा भी कुछ लोगों ने कहा ये सब वादियों का विवाद देखने को मिल रहा है इस प्रकार से प्राण से लेकर के छापरे तक आपने तत्वों को लेकर विचार किया कि सृष्टि का कारणभूत तो उपादान कारण के रूप में गिनने योग्य तत्व कितने हैं निमित्त कारण रूप में गिनने योग्य तत्व कितने हैं निमित्तोपान उभय रूप में गिनने योग्य कितने तत्व हैं ये सब तरह का विवेचन करने के बाद देखा गया कि सब केवल आपस में विवाद किए जा रहे हैं और आगे बढ़ते हुए इसी विवाद को दर्शा रहे हैं लोकाल लोक प्राह आश्रमा तत्व स्त्री पुम नपुंसकम लिंगा था परे लोका लोकानुरंजन को परम पुरुषार्थ मान रहे लौकिक पुरुष लोकारोरंजन को तात्विक वस्तु बदलाते ह्यूमर क्लब इंटरनेशनल एक बना हुआ है संस्था का नाम ही है ह्यूमर क्लब इंटरनेशनल